यद्यपि इन सब लोगों को सुग्रीव ने उत्साहित करते हुए दक्षिण दिशा में जाने के लिए कहा इसलिए सब इतनी बातें भगवान की सेवा को ये खुद मनमानी से करें उत्साह से करें काम जरूर हो जाए इसलिए उत्साहित किया लेकिन ये सब आध्यात्मिक बातें हैं आध्यात्मिक है उसको तो कहते हैं आयुष मांग शरण शर्मा तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है सबने कहा कि हाँ ऐसे ही करेंगे अब हमें आज्ञा दीजिए हम चलते हैं तो उन्होंने आज्ञा दी कहा चलो तो सब प्रणाम कर करते थे भगवान राम के लक्ष्मण को सुग्रीव को प्रणाम करके ये सब लोग चल देते हैं आगे बढ़ने लगते हैं जब चलने लगते हैं तो फिर चले हर सुमर पर अभिराई भगवान का स्मरण रखते हुए चल देते हैं तो सुबह जो भगवान का तो भगवान का काम करने जा रहे हैं और भगवान का स्मरण भी रखते हैं और उन्हीं को करते हुए फिर आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं अब देखो जब भगवान का काम करना हो तो भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के काम में लगे रहना चाहिए अभी तक के तो सारे जीवन और संसार में अधिकांश लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं अपना अपना स्वार्थ अपना अपना काम हम्म? लेकिन मुख्य काम क्या है तो हमें अपना काम नहीं भगवान का काम करना चाहिए और ये नहीं समझिए अरे हम भगवान के काम में लगे भगवान कोई दूर कोई व्यक्ति है और बहुत दूर रहता है उसके काम में लगे तो हमको सब चौपट हो जाएंगे ऐसा नहीं है अपने शास्त्र को समझो भगवान के मानो परमात्मा के मानो हमारे ही व्यक्तित्व का जो सर्वोपर भाग है वही परमात्मा तो परमात्मा को तो हमारे व्यक्तित्व से भिन्न कोई व्यक्ति करे इसलिए मेरा अपने शरीर के लिए जीवन मत जियो अपने इंद्रियों के लिए मत जियो अपने मन के लिए लग जियो हम्म? अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और अपनी बुद्धि का जो है साक्षी उसके लिए जियो उसकी सेवा न रहो उसको खोजो और उसे प्राप्त भी करो जो साक्षी है तो आत्मा है हाँ, उसके लिए जियो उसकी सेवा में लगो उसी को अपने अंदर खोजो वही आत्मा ही जो परमात्मा है अपने अंदर परमात्मा प्रकाशित होगा जागृत हो तो उसको परमात्मा का आनंद प्राप्त होने लगे शांति विश्राम प्राप्त हो गया उसके लिए लगे ये कहने की सेवा करने का माने उस प्रकार तो सब सब चले तरह बुरा ही बुराई जैसे कोई जहां कहीं जाता है तो अपने लक्ष्य को याद रखता है अगर मान लो दिल्ली जाए और हाँ, घर से निकल भूल जाओ तो दिल्ली जाना तो चले जा रहे हो कोई पूछे कहीं जा रहे हो अरे तुम ये क्या बात अरे चले जा रहे तो यार रखो मेरी दिल्ली जाना है स्टेशन में पहुंचे सोचे तो खड़े हुए पैसा निकाले हुए तो घटा का टिकट में अरे तो याद नहीं आता काम का टिकट अपनी यात्रा कर रहे हैं चल रहे हैं जीवन की यात्रा चल रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का लक्ष्य क्या है उस लक्ष्य को सदा याद रखें हम उसी तरफ बढ़ रहे भूल जाने की बात है जो कुछ भी करे उसी लक्ष्य के लिए करो ये करने की तरह इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए लोग चलते पाप से कदम तने फिर नागा जब ये सब लोग प्रणाम कर करके चले आगे बढ़ गए तब हनुमान जी ने सबसे बाद राम जी को प्रणाम करा दिया फिर कहते हैं जान काज प्रभु निकट बुलावा अब तो भगवान ने सोचा कि हनुमान जी असल में काम करेंगे ऐसा समझ करके हनुमान जी को थोड़ा पास मिला उसके मैंने हनुमान जी ने दूसरे भगवान को भूमि तक सिर करके प्रणाम किया था हनुमान क्योंकि सब चलने को तैयार थे हनुमान भी तैयार थे लेकिन भगवान ने तो हनुमान चले गए यहाँ था भगवान हनुमान जी भगवान के पास पहुंचे तत्पर साशीष सरोवर प्यानी तो जब पास पहुंचे तो भगवान ने अपना हाथ हुए हनुमान जी के सिर के ऊपर रखा तो दूसरा हनुमान जी ने समझा कि भगवान का आशीर्वाद देने के लिए सिर के ऊपर हाथ चला है तो भगवान जी करता है खत्म हो गया लेकिन बात कुछ उससे आगे भी थी तो उसके बाद कर परसा परसा शीर्ष सरोवर पानी पानी में हाथ और सरोवर मैंने कमल मैंने कर कमल अपने भगवान ने हनुमान जी को सुख रखा मित्र का दिन जन जानी और उन्होंने अपने हाथ से उठा करके अपनी से निकाल करके उनके हनुमान जी को दी आगे देखो इस अंगूठी को लेके जाए और देखा भगवान कैसे बोलते हैं कहते हैं कि बहुत प्रकार से कहीं समझाए अब जैसे मैंने जैसे भगवान ने कहा कि हनुमान जी को तो सिपाही जी मिले गई है कैसे सीता जी सब प्रकार से समझा दें और ये अंगूठी उनको पहचान की है तो उनको दे देना दिखा देना तो वो समझ जाएंगे कि हाँ तुम कहाँ से आए हो कौन है उसका परिचय उनको मिल जाएगा तो अंगूठी उनको दे और फिर उनको समझा दें बहुत प्रकार से कहीं समझाए सब प्रकार से सीता जी को समझाए क्योंकि समझाने के माने क्या कि वो इतने दिन से वहां जैसे वो प्रतीक्षा कर रहे बहुत दाखिल होंगे तो उनकी दाखिलता को दूर करने के लिए धैर्य बनाने के लिए कुछ समझा देना और कहीं बल गिरे देव तुम आए हो और समझाने में दो बातें मुख्य रूप से बताना एक तो बल का भी बताना बताना कि कितना कितना कैसा कैसा हमारा बल है उनको बताना और यहाँ बल के मैंने केवल अपने भगवान का बल नहीं है ये भी बताना कि जैसे भगवान राम है लक्ष्मण जी का नहीं है हैं नहीं है उनके बल का क्या कहना है और उनके साथ तो कितने बानर हैं हम्म? ये सब भी आएंगे हम्म? और इस बामक सेना भी बहुत विशाल सेना इनके साथ में है वो सब आकर के युद्ध करेंगे और रावण क्या तुम शासनों को मार करके तुमको ले जाएंगे तो ये सब बात भी उनको बल समझा देना और बल यही था जितना किसी व्यक्ति को हो लेकिन अगर भगवान राम को सीता जी को खोज करके लाने के लिए उत्साह में हो तो हाँ, हमारे भगवान राम ने बड़े शक्तिशाली लेकिन भगवान का आ रहे सीता जी का जानता है बल क्या करो तो उसके मैंने उनके मन में उत्साह भी करना तो चाहिए सीता जी को लाना है तो वो तब उत्साह कैसे दिखाई दे जब ये बताने कि भगवान राम तुम्हारे बिना बहुत दुखी है हाँ? तुम्हें तो प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं खुद प्राप्त करके किसी प्रकार से यहाँ से ले ही जाएंगे इसलिए उनका विरोह नहीं बताना है उनको दोनों बातें बल और विरोह ये समझाना दोनों दोनों ही बातें बताए हनुमान ने जाकर के तो दोनों बातें बताई हैं यहाँ भगवान ने सब सब बातें विस्तार से भी मान लो हम मन रही हूँ तो वो सब बातें हम दूसरी राशि में यहाँ तो नहीं कही है और जब वहाँ सीता जी के साथ पहुँचेंगे तो जो जो कुछ भगवान ने कहा है वो वो सब वहाँ पर बताएंगे भगवान ने हनुमान को ये भी बताया कि देखो उनको जब बन बताना तब उनको ये याद दिलाना कि जो चित्रकूट में थे और सीता जी जब थी और जब भगवान राम जी थे तुम तो दोनों लोग जब वहाँ पर थे तो वहाँ का जैन आया था उसने आपके पैर में मारा तो खून निकला था और उस समय भगवान ने बाल मारा था तो जयंत के पीछे पीछे बाल घूमा था दौड़ा था तो भगवान की तो शक्ति इतनी है और भगवान का जो सूत्र का बाण था उसमें इतनी थी कि इंद्र का पुत्र जैन तो सब जगह भागा फिरा और कहीं उसे नहीं मिली इंद्र ने भी नहीं रखा शंकर जी ने भी नहीं रखा ब्रह्मा जी ने भी अपने पास नहीं बैठाला उनके तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो भगवान राम है और उनके सीख का बाण इतना बलवान तो वो तो अगर चाहे तो वहीं से सीत का ही बाण अगर होंगे तो भी है रावण वाले को नहीं बचे तो उनको इतना है लेकिन फिर भी वे आएंगे युद्ध भी होगा और उनकी शक्ति का कम नहीं तो अब ये ये कथा जो थी ये किसी को पता नहीं थी ये लक्ष्मण जी को पता नहीं थी कि जयंत की कथा क्या घटना होती है तो जब जब हनुमान जी ने सीता जी को जाकर के जयंत की कथा सुनाई है तब भगवान को सब सीता जी समझ गई कि इसका नाम है भगवान ने जब उनको बताया होगा हनुमान जी को तब उन्हें ये पता लगा नहीं तो ये बात तो हम लोगों ने भी कभी नहीं लक्ष्मण जी को बताई लक्ष्मण जी को कल नहीं बताई और किसी को तो बात ही क्या भगवान राम ने भी नहीं बताई हमने भी नहीं बताई जयंत की दुर्गति हुई तब सीता जी पहचान गई कि ये तो गुप्त बात थी तो ये गुप्त बात जो हनुमान जी जानते उसके नाम है भगवान राम के ही यहाँ से आए हैं तो इसमें दोनों बातें होंगी एक तो पहचान भी हो जाएगी कि भगवान के भेजे हुए दूत हैं तो कोई निशाचर कपट देश बना करके नहीं आया है और दूसरी बात ये कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं वो देश स्मरण आ जाएगा सीता जी को तो ये सब बातें यही जो है भगवान ने सब यहाँ बता दी हनुमान जी को और पहचान के लिए उनका विरोधी अच्छा बहुत प्रकार से कई समझाए कई बल ग्रह देव तुम आए हो और कहा कि हनुमत जन्म सफल करे माना हनुमान ने जो है इस समय अपने जन्म को सफल कर हनुमान भगवान हनुमान को समझ गए कि भगवान ने जो इस प्रकार बोल रहे हैं उसके माने जो कार्य हम करने जा रहे हैं ये हमारे हाथ से ही होगा और इसमें हमें सफलता जरूर प्राप्त ये भगवान की कृपा है हमें ये आदेश दिया उन्होंने और ये कार्य करने के लिए लगाया जैसे अपने आप ही अर्थ लगाओ तो स्वयं पता लगेगा कि मानव जीवन की सार्थकता क्या है जैसे अपने मानव जीवन में जब इस प्रकार से भगवान का कार्य करने में प्रवृत्त हो गए तब उनको अपने जीवन की सार्थकता लगेगी नहीं तो जन्म सफल परिणाना हम्म। अभी तक जैसे कहा था कि देव भरे कर यह फल भाई अब जैसे हनुमान जी काम वो करते हैं कि हनुमत जन्म सफल कर माना हनुमान जी भी आपने देखते हैं क्या तो हमारे द्वारा भगवान का कार्य होगा तो इसी में हमारे जीवन के साथ प्रत्याश होगा चलो हृदय भरी कृपानुभाना और कृपानुभान भगवान का स्नान करते हुए हनुमान जी भी चले कृपानुभान भगवान क्या कि अब देखा हनुमान जी को बनाई देने के लिए कितना कार्य किया भक्त लोग संसार में देखते हैं कि संसार में बहुत जगह दोष है दुर्गी है कन्या है, ये सब भक्त लोग दिखाई देते हैं लेकिन भक्त जानते हैं कि भगवान ने हमें इनकी सेवा करने का अवसर दिया है उसलिए जगत ऐसा है नहीं तो भगवान चाहे तो जैसे चाहे वैसे जगत बना लें जगत वैसे ही बहुत सुंदर जो इतना शून्य चित्र बना सकता है, है? और जो इतने पेड़ पौधों के किस प्रकार हो जाते हैं जहाँ तक बुद्धि नहीं जाती कैसे कैसे सुंदर कैसे कैसे कलाकारी के साथ बने हुए हैं कैसे कैसे फूल लगते हैं कैसे कैसे फल लगते हैं कैसे कैसे प्राणी हैं कैसे कैसे कीट पतंग के पक्षी हैं ये सब कुछ तो हम देखते हैं कैसी कैसी रचना जगत की सब है तो उसमें अगर कहीं आपको जगत में दिखाई दे तो मनुष्यों में भविष्य मनुष्यों में दो है अधर्म है अमित है पाप है जरा किताब है हाँ? तो जब भगवान ने ऐसी जगह की रचना की तो वो भी बना सकते थे कि कहीं कोई जगह न हो कहीं कोई फसाद ना हो कोई कोई लड़ाई ना काटना हो कहीं बना सकते उसमें कोई क्षमता नहीं इतनी सब ऐसा करके जगत फल जैसा चलता है इसलिए है कि भगवान के भक्तियों को सेवा करने का अवसर है सेवा सेवा करते हुए धीरे धीरे करके अपना कल्याण जीवन का सबको भक्ति का आनंद प्राप्त हो ज्ञान का आनंद प्राप्त हो भक्ति का आनंद प्राप्त हो सेवा का आनंद प्राप्त हो इसलिए सब इस पास इसका मन ये नहीं कि भगवान ने ऐसे बना दो बना रहने दो ऐसे नहीं बना रहे इसलिए तो बनाया कि हम इसमें जो सेवा कार्य करने के लिए हमको क्षेत्र प्राप्त होता है यहाँ अपना सेवा कार्य करें इसलिए कहते हैं कि बस ये जब चले हृदय से कृपा निधाना ये कृपा निधान भगवान ने हनुमान जी को सेवा का कार्य दिया इस प्रकार यज्ञ में प्रभु जान जान को तो सब जाता यदि यज्ञ भगवान जान को सब बात को जानते हैं लेकिन राजनीति तो का राष्ट्र को स्वरूप जाता है लेकिन भगवान नहीं सब तो राजनीति का भगवान को सब मालूम है कहाँ सीताजी ने कौन भेजा कहाँ क्या बात है कुछ भी बात नहीं है लेकिन सब ये बात इतनी बता रहे हैं जब हनुमान जी को इस प्रकार भेजा कि तुम्हारा काम तुमसे होगा और उन्हीं को मित्रता दी उसके मैंने भगवान को उसी संकट मिल जाता समझाने से लेकिन राजनीति रखते हैं तो मैंने अब इसको मैंने ये कि सुग्रीव को भी तो बढ़ाई देनी है सुग्रीव जी के समझे कि हमने इतने बाने लगाए सीता जी की खोज करवाई सेना दे करके भगवान की सहायता करने के लिए गए इतना युद्ध किया ये सब सब उसको उसको भी बढ़ाई प्राप्त होनी चाहिए तो भगवान बढ़ाई भी देते रहते हैं लोग तो बढ़ाई देने के कार्य की वजह से सब सब राजनीति चाहिए अगर ये सब इस प्रकार जिस प्रकार भगवान कर रहे हैं न करें तो बस सुग्रीव को उत्साह न रहे अगर भगवान से गुरु से कह दें कि तुम तो हमारे बल को जानते हो बार हमने कैसे बल को मार दिया इसलिए हमें तुम्हारी कोई सहायता की आवश्यकता नहीं हम मैं जा रहा हूँ मुझे ये भी पता है सीता जी कहाँ है और मैं जहाँ देख बार मारूंगा तारावण में मर जाएगा और सीता जी को मैं ले आऊंगा तो ये राजनीति है एक तो राजनीति में राजनीति तो केवल पृथ्वी की राजनीति है भगवान के सामने के तो तीनों लोगों की राजनीति अगर शंकर जी ने और ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दे रखा है कि तुम्हें बानर और बानर और मनुष्य को छोड़ करके और कोई तुम्हें मार नहीं सकता है तो उनकी बात भी रखनी है ये भी राजनीति के अंतर्गत आता अगर भगवान वहीं से जो बिना बानर के सहायता लिए और बिना मानवीय शरीर धारण किए हुए और बिना भी दुखिए रावण को जहाँ बैठे वहीं से मार दें तो ब्रह्मा जी कहने लगे हमारा बरदानी मिलता चला गया आपने ये क्या कर लिया आखिर हाँ? दुनिया में फिर उसके बाद में रावण का देता आ रहे ये सब बरदान वहां सब झूठे हैं ये सब कह देते हैं ब्रह्मा जी शंकर जी तो देखो ऐसा होगा ऐसा होता हुआ था कुछ नहीं है हाँ? तो विश्वास हो हट गया लोगों का तब ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं कि जब जो हमारे वरदान जो हमने दिया रावण को वो पूरा नहीं आपने होने दिया तो अब कौन हमारी बात को मानेगा न देव को मानेगा न शास्त्र मानेगा न कोई हमारी बात मानेगा हाँ, न कोई हमें आदर देगा तो भगवान उनको भी सबको आदर देने ये भी राजनीति के अंतर्गत है तो देखो यहाँ वो जो लोग है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश बात करते हैं उनकी भी राजनीति रखने के लिए भगवान ने सरकारी कर और फिर तो सुग्रीव यहाँ पर तत्काल राजा है उसकी भी राजनीति को बात रखने के लिए करता हम्म। देवता लोग जहाँ पर जहाँ कहीं इंदिरा भी देव है वहाँ भी राजनीति चल रही है उनकी भी नीति रखने के लिए तो भगवान को तो कोई पृथ्वी की राजनीति है तो एक मनुष्य होता है राजा होता प्रतीक है तो पृथ्वी की राजनीति अपना देश एक गांव का राजा है तो अपने गांव भर की राजनीति को देश हाँ? लेकिन भगवान तो तीनों लोगों की राजनीति की रक्षा करने को उनको सब देते तो कहते राज नहीं तो तो सिर्फ प्राता सिर्फ प्राता करके ये दिखाते हैं देखो भगवान राम ने अवतार लिया है देवताओं की रक्षा करने के लिए तो इनकी राजनीति में तो देवता ले आते हैं सिर्फ प्राता के मैंने इतना अर्थ लगाने का आवश्यकता नहीं इंद्र और आज ये देवता है जिनको की रावण ने भस्म कर लिया है उन्हीं के उन्हीं सिर्फ प्राता नहीं भगवान भगवान जो है वो ब्रह्मा भी देवता है शंकर जी भी देवता है उनके भी प्राता है उनके भी बात रखने वाले तो चलो सकल बन तो सरिता सर गुरु को तो कहते इस प्रकार से अग्नि शक्ति यात्रा प्रारंभ हो गई और फिर शुरू हो गई चल दिए हनुमान जी चल दिए अंगाराज सत्तर चल सकते सकते ये सब दक्षिण दिशा की तरफ चल देते हैं और वहाँ खोजते जाते हैं चलो सकल सकल से जाने गए यहाँ पर वही ग्रुप का लाभ हो गया था उनके लिए चलो सकल बन खोज तो अब बन की बंद रास्ता उनके बंद करता है बंधन में खोजते सकते और सरिता सर गिर खो खोने गुफाएं गुफाओं में खोजते हैं पहाड़ों में खोजते हैं नदियों में तालाबों में सब जगह वन में जगह जगह में जगह जगह सब जगह जगह ये सब झाकते फिरते हैं खोजते फिरते हैं और देखते हुए किसी का भी कहा कहीं कहीं कहा नहीं है ऐसे देख कुछ लोग आ राम काज लवलीन मन दूसरा तन कर छो अब ये सबके सब जो दूसरा तन कर छो के माने क्या है कर्म शरीर का छो भुला गया शोक मैंने शरीर का मोह प्रेम शोक प्रेम शरीर की देहाशक्ति जो है वो भुला दे अब देखो ये भी देखो अगर भगवान का कार्य करना है तो भगवान का कार्य करने वाले को देहाशक्ति अपने आप भुला जाती जहां ध्यान हुआ कि भगवान का कार्य करना है तो वो अपने देह का प्रयास नहीं शुरू करेगी वैसे कोई व्यक्ति अपने घर पर बैठा हुआ भगवान का काम कुछ न करे और सोचे कि देहा शक्ति छूट गया देहा शक्ति छूट गया क्योंकि देहा शक्ति बार बार याद आएगी जितने ही शरीर की याद को भुलाना चाहोगे उतने ही शरीर याद आ और जहां भगवान के काम में लग जाए तो शरीर की बात अपने आप भुलाएगी भुलाने से शरीर की भाव नहीं भूलता वो जब ध्यान दूसरी तरफ लगता है तब शरीर भाव भूलता है तो ये परमात्मा का भगवान का स्मरण करते हुए और स्मरण भी कर रहे हैं और भगवान के सेवा में लगे हुए भी हैं उसी कार्य में भी लगे हुए हैं तब इनको देखो शरीर का भाव भुला गया बिसर गया दूसरा तन कर छो राम काज लवली मन क्योंकि मन भगवान के कार्य में लगा हुआ अपने मन भगवान के काम में लगाया तो शरीर का भाव अपने आप से और ये आवश्यक है अगर हम चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति हो तो देव भाव को छोड़ना पड़ेगा खाने से छूटे क्या विचार से छूटे चाहे भक्ति से छूटे चाहे सेवा से छूटे किसी उपाय से छूटे देव भाव को तो छोड़ नहीं पड़ेगा अगर देव भाव को जितनी मजबूती से पकड़े रहेंगे तो परमार्थ हाथ में आयोजन उसमें सफलता नहीं मिलेगी संतों ने कहा एक उदाहरण दिया है कि देखो शरीर भाव कैसा भाव है शरीर भाव में अहम भाव रख करके साधना आध्यात्मिक साधना ज्ञान भक्ति पूजा इत्यादि करने वाले व्यक्तियों की दशा कैसी है तो कि जैसे कोई सवेरे सवेरे चार बजे जनता स्नान करने जाए और देखे कि जनता जी के छत पे एक खूटे में नाव बनी हुई है और वह सोचे कि चले नाव में बैठ करके उस पार जा करके वहाँ पर हम स्नान करेंगे पार नाव में बैठ बैठ करके लेकर के दोनों उसमें रखे हुए दान उनको लेकर के पानी निकाले और दोनों को चलाने लगे सरकार की तरफ देखे और अच्छी तरफ बैठ करके चलाए चलाता रहे चलाता रहे चलाता रहे चलाता रहे चलाता रहे चलाता रहे और ये भूल जाए नहीं तो हमने खूटे में तो नाक खोलिए तो हाँ? नहीं खोली तो जब दो घंटे दो घंटे तीन घंटे जब उधेला होगा तब देखोगे कि हम पीछे घूम करके देखोगे हम कितनी दूर निकल आए नदी में हाँ? तब देखोगे किनारा जो होगा अभी तो हम उसी किनारे पर वहीं वहीं महा तो हमारे उसी किनारे खड़ी हुई अक्षय के चला तक उसी दे दिया तब उसे पता लगे कि नाव आगे क्यों नहीं चली क्योंकि नाव टूटे नहीं बने इसी प्रकार से जीव जो है अगर देह के अभिमान में बना हुआ तो शरीर टूटे की तरह से और इसी में जीव बना हुआ शरीर में तो वो जीव जितना ही परमात्मा की तरफ आत्मा की तरफ कोई भी प्रयास करता रहे जाने के लिए तो आगे बढ़ नहीं पाए सारी जिंदगी भगवान का भयन करते रहो सारी जिंदगी साधना करते रहो लेकिन देहा शक्ति पुलिस छोड़ो तो कोई प्रगति नहीं होगी प्रगति इसी बात में है कि जब देहाभिमान छूटे और फिर मैं प्राण हूँ मैं मन हूँ मैं बुद्धि हूँ इस प्रकार का विमान छूटे अहंकार छूटे वासनाएं छूटे ये सब के सब छूटे सुखी शरीर से भी पार निकले प्राय शरीर से भी आगे निकले तब आत्मा परमात्मा के क्षेत्र में पहुंचे वहां परमात्मा का राज्य यहाँ है तब वो मिले जब सूर्य शरीर नहीं छोड़ता तो सुखी शरीर का भाव कैसे छूटेगा प्राण तो शरीर का भाव कैसे छूटेगा आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी और भी मुश्किल बात इसलिए देखो यहाँ पर ये सब बातें बीच बीच में कहते जाते हैं गोस्वामी जी तो गोस्वामी जी के तो सब अध्यात्म की बात बात बात बतानी तो से भाभी नहीं चल रहा है वो सब भाना लोग चल रहे सीता जी को करने में कटाते तो नहीं है लेकिन उसके साथ में हर बात बात में उनके कहने के बाद जो वो आध्यात्मिक साधना क्या है जीवन का लक्ष्य क्या है परमात्मा की प्राप्ति आत्मा की संसार बंधन से छुटकारा प्राप्त करना ये जीवन का लक्ष्य है और उसे प्राप्त करने के लिए जैसे अब यहाँ पर भगवान की सेवा रूपी धर्म की बात बता रहे जगह जगह ज्ञान की बात आ चुकी है भक्ति की बात आ चुकी है लेकिन भगवान की सेवा कैसे की जाती है वो बात भी स्वयं में बतानी है तो इस प्रसंग में जब ये सब भगवान की सेवा के लिए निकलते हैं तो इन्हीं के बहाने सेवा धर्मी समझा देते हैं चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो भगवान की सेवा करनी चाहिए और भगवान की सेवा करने में हर साधना की अपनी अपनी विशेषताएं हैं अपनी अपनी अच्छाइयां हैं सेवा धर्म की एक अच्छाई ये है कि अगर भगवान की सेवा कार्य में लग गए तो देहाभिमान बिना चढ़ाई छूट जाता है जब जाते हैं रास्ते में तो कहाँ पहुंचते हैं कौन कौन लोग मिलते हैं उसकी पता है सत्यम ददामी च भवान अखिलांतरात्मा भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगरभराम प्राणादिदोषरहितम कुरुमान संजय श्रीराम जय राम जय जय